परम पिता परमात्मा का स्मरण पिता के तुल्य हमें विभिन्न वस्तुएं प्रदान करने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए उसकी स्तुति कैसे करने चाहिए ये बात आज के इस मंत्र में एक भिन्न ढंग से कही गई है आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का ये अड़तालीसवां मंत्र है ये मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का तेरहवा मंत्र है स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी ये मंत्र आता है और इस मंत्र का उच्चारण हम प्रतिदिन करते हैं मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते परमात्मा के गुणों को बताते हुए कहा यह जो आत्मदा आत्मा का देने वाला है आत्मा के ज्ञान का देने वाला है यहां व्याख्या में महर्षि ने आत्मा का देने वाला तथा आत्म आदि का दाता जीवन जीव प्राणदाता ये लिखा है स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में स्पष्ट ही लिखा है आत्मज्ञान का दाता लेकिन यहां आत्मज्ञान आत्मविज्ञान के अतिरिक्त आत्मा का देने वाला ये भी लिखा है और मंत्र में जो आत्मदा आत्मा को देने वाला ये कथन आता है तो इससे कईयों के मन में ये विचार आ जाता है कि परमात्मा ने ही इस आत्मा को बना के दिया है महर्षि दयानंद सर्वत्र स्पष्ट रखते हैं लिखते हैं कि आत्मा एक नित्य पदार्थ है इसलिए उनके इन वाक्यों का ये अर्थ तो हम बिल्कुल ना लें कि परमात्मा ने आत्मा को बना करके दिया है यदि इस भाषा पे भी विचार करें तो आत्मा का देने वाला है किसको देने वाला है वो लेने वाला कौन है तो अन्य तो कोई नहीं है आत्मा के अतिरिक्त लेकिन फिर भी ये कथन किया जा रहा है तो उसे हम भिन्न ढंग से समझ सकते हैं हम आत्माएं ईश्वर की सहायता के बिना अपने बारे में भी कुछ नहीं जान सकते ईश्वर प्रदत्त अंतकरणों इंद्रियों शरीर आदि की सहायता से ही हम अपने विभिन्न सामर्थ्यों को जान पाते हैं अपने अस्तित्व को जान पाते हैं प्रलयावस्था में जब ये शरीर आदि इंद्रियां हमारे पास नहीं रहते तब हम अपना कुछ भी बोध नहीं कर पाते तो हमें अपने स्वरूप का बोध आत्मस्वरूप का बोध वो परमात्मा सहायता दे करके करवाता है इन साधनों को दे करके करवाता है इसलिए परमात्मा आत्मदा है इन चीजों में परमात्मा ज्ञान देता हो वो नहीं जोड़ना चाहिए आत्म ज्ञान आदि का देने वाला है वो आगे महर्षि ने लिखा है यहां लिखा है आत्मा का देने वाला तो आत्मा को उसके अपने व्यवहार्य स्वरूप में लाने वाला विभिन्न साधनों को देकर के इस रूप में वो आत्मा को देने वाला है और वो आत्मा का ज्ञान भी देता है ज्ञान आदि को भी देता है आत्मा के बारे में ज्ञान और आत्मा को अन्य ज्ञान वो भी वो परमात्मा देता है तो हम अपने को आत्मा के रूप में स्वयं जब जान पाते हैं हम स्वयं अपनी अनुभूति कर पाते हैं वो परमात्मा की सहायता से होता है साधनों से होता है इसलिए वो परमात्मा आत्मदा है और आत्मज्ञान आदि का भी वो देने वाला है जीवन प्राण का दाता है जो भी हमारा जीवन चल रहा है वो परमात्मा की सहायता से चल रहा है इसलिए वो आत्मदा है अर्थात हमारा ये सब कुछ जो चल रहा है वो सब जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान करते हैं व्यवहार काल में वह सब उसकी सहायता से दिया हुआ है आगे कहा बलदा जो परमात्मा विभिन्न बलों का देने वाला है इन साधनों की सामर्थ्य भी परमात्मा के माध्यम से हमें मिली है और उसी की व्यवस्था से ये बल हमें प्राप्त होते रहते हैं हम इनका बल प्राप्त करते रहते हैं आगे कहा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा जिसकी सब लोग जीवित सभी मनुष्य और प्राणी उपासना करते हैं यानी उसी को चाहते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रशिषम उसके नियम को अनुशासन को सभी पालते हैं और महर्षि ने तो जड़ पदार्थों के लिए भी लिखा कि जड़ पदार्थ भी जिस व्यवस्था से चल रहे हैं उनमें जो संयोग वियोग विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो भी परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप होती हैं तो उस ढंग से ये जड़ पदार्थ भी परमात्मा के आदेशों का नियमों का पालन करते हैं परमात्मा ने प्रकृति को कार्य जगत रूप में प्रवृत्त किया यदि परमात्मा इसे जड़ जगत को कार्य रूप में प्रवृत्त न करता निर्मित नहीं करता तो इसमें अपने आप ये सब क्रियाएं नहीं होती मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ वैसे ही पड़े रहते संसार में होने वाली प्रक्रियाओं को रासायनिक क्रियाओं को भौतिक क्रियाओं को देख करके कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये तो इनमें अपने आप हो रही हैं परमात्मा इन्हें नहीं कर रहा है स्थूल रूप से ये कथन ठीक है लेकिन क्या मूल प्रकृति अपने आप क्रिया करके इस कार्य जगत को उत्पन्न कर सकती थी परमात्मा ने जब उसको इस कार्य जगत में बदला है अब प्रकृति की भी अपनी सामर्थ्य है कि विभिन्न तत्व एक दूसरे से संयोग वियोग करते हैं लेकिन ये व्यवस्था किसने बना के दी वो परमात्मा ने बना के दी और जैसी व्यवस्था उसने बना के दी है उसके अंतर्गत रहते हुए ये समस्त जगत जड़ जगत क्रियाशील है और इसमें विभिन्न रासायनिक भौतिक क्रियाएं हो रही हैं इसलिए ये भी उस परमात्मा के नियमों का पालन करता है देवाह देवलोक तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते ही हैं महर्षि ने लिखा कि जिसके प्रशिषम अनुशासन शिक्षा मर्यादा को यथावत विद्वान लोग मानते हैं विद्वान लोग इसको यथावत मानते हैं और जो जितना कम विद्वान है वो उतनी न्यूनता से ही मान पाता है दूसरे शब्दों में जो जितना विद्वान है वो उतने उतने अंश में परमात्मा की आज्ञाओं को परमात्मा के आदेश अनुशासन या शिक्षा मर्यादा को मानता है इसका ये अर्थ नहीं है कि सब व्यक्ति सदा परमात्मा की आज्ञाओं शिक्षाओं को मानते रहते हैं परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है और उस स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग मनुष्य करते रहते हैं इस अंश में वो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते यदि वे विपरीत चलते हैं लेकिन यहां फिर भी एक भाव कहा गया कि सब परमात्मा की आज्ञा अनुशासन का पालन करते हैं यानी पालन करना होता है करना पड़ता है हम जहां जहां हम जहां जहां लोक में देखते हैं कि ये मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के विपरीत चल रहा है उस व्यक्ति को भी आज्ञाओं का पालन करना होता है उदाहरण के लिए भोजन ले लें कि यदि अधिक भोजन कोई कर रहा है तो हम कहेंगे ये परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है कहा अनुशासन का पालन कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति कितना अधिक खा सकता है इसी प्रकार अन्य विषय भोगों में ले लीजिए वो कितना भोग सकता है एक सीमा से ज्यादा वो भी नहीं कर सकता ये परमात्मा का नियंत्रण है और जो व्यक्ति करने लगता है तो उसको हानियां शुरू हो जाती विभिन्न रोग आने लगते हैं आलस्य प्रमाद आदि आने लगेगा बाधाएं आएंगी तो भी वो नहीं कर पाता और यदि फिर भी करता है वो तो ईश्वर की व्यवस्था है वो रुग्ण हो जाता है और तब उसको उपवास करना पड़ता है आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा नहीं करेगा तो हानि उठाएगा जब जब हम ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती है और हम वापस वहीं लौट के आने का प्रयास करते हैं अर्थात दूसरे शब्दों में हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने लगते हैं किसी वस्तु के खाने से किसी को उल्टी होती है दस्त लगती है वो कितनी बार खाएगा उसको रोकना ही होगा उसको फिर भी जबरदस्ती लेता है तो उसको चिकित्सा करानी होगी नियमों का पालन करना ही होगा उचित समय निद्रा न लेकर के कोई कार्य ही करता रहे कब तक करेगा उसको बाधाएं आएंगी और फिर उसे सोना पड़ेगा और फिर भी वो जबरदस्ती करता है कुछ चाय कॉफी आदि पी के जगता रहता है अन्य उत्तेजक चीजें लेके जगता रहता है तो भी वो हानि को प्राप्त करेगा और जहां बहुत आवश्यक चीजें हैं वहां उसको नींद आ ही जाएगी तो कोई व्यक्ति परमात्मा की आज्ञाओं को न माने ये सोच के चले तो जा नहीं सकता ज्यादा उसको फिर लौट करके आना पड़ता है मानना ही पड़ता है ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है यही बात वैज्ञानिकों पर है यदि कोई परमात्मा की आज्ञा के विपरीत जाता भी है तो आगे चल के उसको वापस वहीं आना ही होता है वो हानियां जान करके तो इस दृष्टि से हर व्यक्ति परमात्मा की आज्ञाओं से बंधा है और उसको उन आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है और इस तरह से वो परमात्मा के ही नियमों का पालन कर रहा होता है परमात्मा की ही उपासना कर रहा होता है आगे कहा जिसकी छाया अमृत है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो जिसका आश्रय अमृत है मोक्ष सुख का देने वाला है और जिसकी अच्छाया अकृपा आश्रय न लेना महर्षि लिखते हैं कि जन्म और मरण रूप महाक्लेश को वो प्राप्त करता है जो व्यक्ति दुष्ट है महर्षि ने लिखा है कि दुष्ट जनों के लिए बारंबार मरण और जन्म रूप महाक्लेशदायक है जो व्यक्ति लगातार जन्म मरण में चलता जा रहा है चलता जा रहा है वो दुष्ट है ही वो परमात्मा की आज्ञाओं का पूरा पालन नहीं कर रहा इसलिए वो दुष्ट है और इसीलिए उसका जन्म मरण चलता रहता है इसको दूसरे अर्थों में भी अगर हम लें कि जो जीवन जी भी रहे हैं उनमें से जो जो परमात्मा का आश्रय लेता है जितने जितने अंशों में उतने उतने अंशों में वो सुखी रहता है और जितने जितने अंशों में परमात्मा का आश्रय नहीं लेता उतने उतने अंशों में वो दुखी होता रहता है परमात्मा का आश्रय नियम लिया तो अमृत सुख की शांति की प्राप्ति और उसके विपरीत गया तो दुख अशांति विरोध की प्राप्ति हमें सतत होती रहती है इसलिए कहा ऐसे उस परमात्मा की जो कि सुख स्वरूप है कस्मई उस सुख स्वरूप का स्वरूप परमात्मा उसके लिए उस देवता के लिए हम हविषा विधेमा अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसी की उपासना करें उसी के नियमों के पालन में लगे रहें ये परमात्मा की तरफ से अपनी आज्ञा पालन करने का जबरदस्ती नियम नहीं दिया गया है इसी में हमारा कल्याण है इसके बिना हम शांति से रह ही नहीं सकते इसलिए ऐसे परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए महर्षि नीचे लिखते हैं हे सज्जन मित्रों वही एक परम सुखदायक पिता है सज्जन व्यक्ति इन बातों को समझ सकते हैं जो दुष्ट है वो इन्हें नहीं समझेगा तो उन्हें कहते हैं आओ अपने सब मिल करके प्रेम विश्वास और भक्ति करें परमात्मा के प्रति महर्षि इस बात को जानते थे कि अकेला व्यक्ति यदि इस तरह चलता है तो वो पूर्ण सुखी इस जीवन में नहीं हो सकता हमारा एक बड़ा समूह होना चाहिए हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो इस तरह से जीवन जीते हों तो हम अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से भी चल पाएंगे आगे कहा कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न माने आंशिक रूप से हम अन्यों की उपासना करते हैं वो हमें करनी होती है महर्षि का तात्पर्य इस अर्थ में लेंगे कि जिन अन्यों की हम उपासना करते हैं उनकी उपासना भी तभी और उतनी ही करनी चाहिए जितने अंशों में वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हो और परमात्मा की आज्ञा के विपरीत यदि कोई व्यक्ति चल रहा है निर्देश दे रहा है तो हमें उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए और जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप व्यवस्था कर रहा है और हम उसकी उपासना करते हैं यानी उसके अनुशासन को पालते हैं तो ये एक तरह से परमात्मा की ही उपासना है क्योंकि परमात्मा स्वयं इस बात का निर्देश करता है कि हमें सज्जनों का श्रेष्ठ मनुष्यों का ऋषियों का आप्तों का अनुसरण करना चाहिए यह भी परमात्मा की ही उपासना है तो केवल परमात्मा की उपासना का शाब्दिक ये अर्थ ना ले लिया जाए कि अन्यों की हमें कुछ सुननी ही नहीं है अन्यों की माननी ही नहीं है और दूसरे ढंग से हम जो अन्यों की मानते हैं उचित चीजें उचित बातें वो दूसरे ढंग से परमात्मा की ही उपासना है आगे लिखते हैं वह अपने को अत्यंत सुख देगा इसमें कुछ संदेह नहीं है ये महर्षि को बिल्कुल दृढ़ निश्चय था उन्होंने इसका अनुभव किया इसको उन्होंने शास्त्रों से वेदों से भी जाना और स्वयं भी अनुभव किया और हम आर्यों के लिए भी इसी भावना को करने के लिए निर्देश कर रहे हैं आर्यों को ये भावना मन में अवश्य रखनी चाहिए कि परमात्मा हमारा हित अवश्य करेगा परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलने में कभी भी हमारा अहित नहीं होगा संदेह रहित होकर के हम उसकी आज्ञा पालन में लगें ये भावना इस मंत्र में कही गई परमात्मा की स्तुति करते हुए ऐसे परमात्मा के प्रति हमारा आर्यों का कैसा व्यवहार हो इस मंत्र में कहा मन में भावना रखते हुए प्रभु का स्मरण और शांति पाठ ओ